का परमात्मा का स्मरण सबको सुख और प्रसन्नता देने वाले परमात्मा प्राणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को किए जाने वाले संबोधनों में एक संबोधन और महर्षि ने दिया हे विश्व विनोदक परमात्मा विश्व का विनोदक है विश्व का मतलब होता है संपूर्ण सब सबका सब प्राणियों का विनोदक का मतलब है प्रसन्न करने वाला सबको उत्साहित करने वाला सबको प्रेरित करने वाला आमोद प्रमोद मनोविनोद इन शब्दों का कुछ हम प्रयोग करते हैं समाज में मनोविनोद यानी मन की प्रसन्नता इसको हम दूसरे शब्दों में अधिक प्रयोग करते हैं मनोरंजन परमात्मा सबका विनोदक है सबको प्रसन्न करने वाला है सबको प्रेरणा देने वाला है इस संसार में व्यक्ति जब बहुत से दुखों को अनुभव करता है अपने को दुखों में बाधाओं में घिरा हुआ पाता है तो उसका प्रत्यक्ष है ऐसा होता है और बहुत से दुखी लोगों को देखता है तो मन में विचार आता है कि परमात्मा ने ये दुखद संसार क्यों बना दिया सबको इतना दुखी क्यों कर दिया और परमात्मा के प्रति एक आक्षेप हमारे मन में बैठ जाता है परमात्मा की कृपाओं को मानते हुए भी परमात्मा के प्रति ये भाव भी बना रहता है कि उसने कैसी व्यवस्था की है देखो कितने दुखी हैं और परमात्मा इस सब दुख को न देता तो ज्यादा अच्छा होता फिर कुछ लोग इसमें कर्म को जोड़ लेते हैं कि यदि कोई दुखी है भी वो अपने कर्मों के अनुसार है परमात्मा ने उसको कर्मों के अनुसार ऐसे शरीर प्रदान किए स्थितियां प्रदान की तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है तो इनका अपना दोष है एक अंश में बात ठीक है परमात्मा कर्मानुसार फल देता है और परमात्मा फल देता है इसमें हम दंड को प्रमुखता से रख लेते हैं कि परमात्मा दंड देता है न्यायाधीश है और वर्तमान काल में जो न्यायाधीश होते हैं वो दंड ही देते हैं पुरस्कार वाली व्यवस्था तो आज की न्याय व्यवस्था में नहीं है या नगण्य प्राय ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति दी जाती है तो संसार की न्याय व्यवस्था को देख करके हमारे मन में ये परोक्ष भाव बैठ जाता है प्रबलता बन जाती है उसकी कि परमात्मा भी न्यायाधीश है तो दंड देता है दुख देता है एक तरफ हम परमात्मा को समस्त सुख का प्रदाता साधनों का प्रदाता भी मानते हैं लेकिन जहां परमात्मा को न्यायकारी सोचने लगते हैं वहां उसका दंड गुण दुख देने वाला स्वभाव अधिक उभर के आ जाता है और हम सोचते हैं कि जो हम खुश होते हैं मनोविनोद होता है मनोरंजन होता है ये हम सब स्वयं करते रहते हैं और एक प्रक्रिया वो भी चल पड़ती है कि यदि संसार में हम विनोद करेंगे संसार में ही प्रसन्न रहेंगे तो यहीं पर ही आसक्त हो जाएंगे यहीं जुड़ जाएंगे चूंकि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है इसलिए मनोविनोद या मनोरंजन इसका तो कोई स्थान नहीं है क्योंकि जितना हम मनोरंजन करेंगे सुख लेंगे विनोद करेंगे बातचीत में ऐसी बातें करेंगे जिससे विनोद होता है तो ये सब बंधन का कारण है इसलिए इन सब से हम दूर हट हटते हैं जब मनोरंजन या मनोविनोद किसी के दुख का कारण बन जाता है हम दूसरे को दुख दे देते हैं अपमानित कर देते हैं एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बहुत पाप का देने वाला बनता है अधर्म का कारण बनता है और एक सीमा तक जब हम करते हैं वहां मन की प्रसन्नता होती है दूसरे को भी विशेष हानि नहीं होती उसको कुछ अपने दोष का पता लगता है वहां तक वो सहन करने योग्य होता है लेकिन इसमें भी जब सूक्ष्म दृष्टि से जाते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति तो देखते हैं कि जब जब हम विनोद करते हैं वहां कहीं दूसरे को छोटा मान रहे होते हैं दूसरे की कुछ त्रुटि को देख रहे होते हैं तो इस बात को मूलतः हम अध्यात्म में हानिकारक समझते हैं और वो प्रक्रिया चल रही हो तो वो हानिकारक होता भी है तो इन सबको देखते हुए एक साधक के मन में धार्मिक व्यक्ति के मन में विनोद मनोरंजन आदि बाधक चीजें प्रतीत होती हैं लेकिन यहां परमात्मा को विशेषण दिया गया विश्व विनोदक वो सबको विनोद में लाता है विनोद करने वाला है विनोद ही विनोद कर रहा है प्रसन्न ही प्रसन्न कर रहा है तो परमात्मा के विनोद को हम किस तरह से समझें विनोद का अर्थ जहां प्रसन्नता है तो हम अपने जीवन को जब देखते हैं तो जीवन में प्रसन्नता अधिक होती है अप्रसन्नता की तुलना में प्रसन्नता अधिक होती है कब जब अविद्या पूर्वक अप्रसन्नता को हम पैदा ना कर रहे हों एक अप्रसन्नता होती है हम हर किसी से अप्रसन्न रहते हैं नाराज रहते हैं इसने ये कर दिया इसने ये नहीं किया इसने ऐसा बोल दिया इसने ऐसा नहीं बोला इसने इतनी चीज दी इसने इतनी नहीं दी मैंने इसको दिया था इसने नहीं लिया इस ढंग से नहीं लिया लेने के बाद इस तरह से धन्यवाद नहीं दिया इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें उसमें कुछ शिष्टाचार वश ठीक भी होती हैं लेकिन अगर किसी ने किसी भी तरह का व्यवहार किया है उसके बाद में जो हम उस पर हानिकारक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं वो हमारी अप्रसन्नता का कारण बनता है तो इस अप्रसन्नता को तो हम छोड़ दें क्योंकि ये तो हमने स्वयं पैदा किए हैं इस तरह की अप्रसन्नता को देखें तो कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन अप्रसन्न रह सकता है किसी व्यक्ति से किसी परिस्थिति से पूरे वर्ष पूरे जीवन अप्रसन्न रह सकता है इस समाज में राष्ट्र में ऐसा है ऐसा है ये गलत है ये गलत है इसमें ये दोष है मेरे में ये दोष है अपने से और दूसरों से अप्रसन्न अप्रसन्न रह सकता है कोई पूरे जीवन खिन्न रह सकता है लेकिन ये अप्रसन्नता उसकी अपनी पैदा की भी है इन अप्रसन्नताओं को देख करके हम कहें कि परमात्मा ने ये कैसा संसार बना दिया है इसमें इतनी अप्रसन्नता है प्रसन्नता के क्षण तो बहुत कम आते हैं ये परमात्मा का दोष नहीं है परमात्मा की दृष्टि से देखें तो परमात्मा ने हमारी प्रसन्नता के लिए सारे उपाय दे रखे हैं जिन्हें हम परमात्मा के दिए हुए साधन समझते हैं वो समस्त साधन हमारे अंदर विनोद को पैदा करने वाले हैं प्रसन्नता को पैदा करने वाले हैं भूखे व्यक्ति के सामने जब फल दूध भोजन आदि आता है तो मन में क्या भाव पैदा होता है अभी खाया नहीं है लेकिन एक प्रसन्नता का भाव पैदा होता अर्थात वो वस्तु हमारे अंदर प्रसन्नता लाती है हम चाहें तो उसके प्रति अप्रसन्नता भी प्रकट कर सकते हैं वो अपनी दृष्टि के अनुसार कि हमें पराठा चाहिए था या रोटी है तो अप्रसन्नता हो गई हमें ये सब्जी चाहिए थी ये सब्जी बना दी ये अप्रसन्नता है इस सब्जी को कटोरी में देना चाहिए था नीचे खुले में दे दी ये एक अप्रसन्नता कितनी भी अप्रसन्नता रोटी मुझे गरम गरम चाहिए थोड़ी देर की पहले की आ गई अप्रसन्नता रोटी पूरी फूली भी चाहिए थोड़ी कम फूली है अप्रसन्नता लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें प्रसन्न करती हैं हम कहीं भी प्रकृति में चले जाएं तो वृक्षों को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है पानी को देख के प्रसन्नता होती है सर्वत्र प्रसन्नता होती है और वस्तुओं को परमात्मा ने ऐसा बनाया और हमारी इंद्रियों को भी ऐसा बनाया हम किसी भी विषय का सेवन करेंगे तो हमें प्रसन्नता होती है परमात्मा ने आंखें ऐसी बनाई सुंदर वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं अच्छी लगती हैं मधुर शब्द मधुर संगीत हमें अच्छा लगता है परमात्मा ने ऐसी इंद्रियां बनाई हैं हम जांच सकते हैं कि ये संगीत अच्छा है ये अच्छा नहीं है इसी तरह से गंध सुगंध दुर्गंध स्पर्श रस ये सब हमें पता लगता है और ये बहुत कुछ हमारे हित और अहित से भी जुड़ा हुआ है दुर्गंधित भोजन सड़ा हुआ भोजन हमें पता लग जाता है इसमें दुर्गंध है हमें वो हानिकारक है इसलिए हमें दुर्गंध प्रतीत होगी वहां पर सबको नहीं होगी अन्य प्राणियों को नहीं होगी परमात्मा ने वस्तुओं के अतिरिक्त इंद्रियां भी ऐसी बनाई हैं कि जो विनोद को देने वाली हैं सुख और प्रसन्नता को देने वाली हैं और इसलिए संसार इस ओर जा रहा है इस ओर भागता है इनका उपयोग करता है और परमात्मा ने इसका प्रतिषेध भी नहीं किया है ये संसार और इंद्रियां परमात्मा ने ऐसी ही बनाई है लेकिन हम इसको अन्यथा भी लेने लगते हैं कि यदि परमात्मा इन वस्तुओं को इतना आकर्षक नहीं बनाता इंद्रियों को ऐसा नहीं बनाता कि इनमें सुख होता तो अधिक अच्छा होता है आध्यात्मिक प्रगति अच्छी होती ऐसे में हम चाह तो परमात्मा की प्राप्ति रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति चाह रहे हैं लेकिन परमात्मा को हम एक बहुत बड़ा दोष भी दे रहे हैं परमात्मा पे एक बहुत बड़ा लांछन भी लगा रहे हैं और जिसका हमें बोध भी नहीं होता हम सोचते हैं हम तो परमात्मा के अत्यंत भक्त हैं परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं सर्वज्ञ मानते हैं लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये इंद्रियां ऐसी हैं और संदिशियों की तरफ जा रही हैं इंद्रियों को दोष देने लगते हैं संसार की वस्तुओं को दोष देने लगते हैं कि ये इतनी आकर्षक है तो हम ये भूल जाते हैं कि इसको इन सबको बनाने वाला कौन है यद्यपि एक तरफ पूछे तो हम पता करेंगे जानेंगे कहेगा कि मैं जानता हूं परमात्मा ने इसको बनाया है तो यदि किसी रचना में हम दोष दिखा रहे हैं तो रचनाकार का दोष भी तो साथ में आ ही रहा है जड़ प्रकृति कैसी बनती इस जड़ प्रकृति से हम बहुत बदसूरत मकान भी बना सकते हैं भवन बना सकते हैं और बहुत सुंदर भी बना सकते हैं प्रकृति का उसमें क्या है पर प्रकृति सुंदर बन सकती है आकर्षक बन सकती है ये ठीक है उसकी सामर्थ्य है लेकिन बनाने वाला चाहे तो उसको बहुत भद्दा भी बना सकता है अनाकर्षक भी बना सकता है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है वो इस इन सब को बहुत अप्रसन्न करने वाला भी बना सकता था अनाकर्षक भी बना सकता था लेकिन परमात्मा ने ऐसा बनाया नहीं है तो ईश्वर भक्ति में डूबे हुए भी हम ईश्वर पर दोषारोपण कर रहे होते हैं और अविद्या इतनी गहरी कि हम अपने को सत्य विद्या में समझते हैं कि परमात्मा को तो हमने बिल्कुल ठीक जान लिया है और ये चीजें हमारे लिए बाधक बनती हैं अध्यात्म में हम सोचे रहे होते हैं कि अध्यात्म में प्रगति हो रही है इस भावना से जबकि वो बाधक बन जाती है परमात्मा को किसी भी तरह हम दोष कैसे दे सकते हैं और यदि परमात्मा ने संसार की वस्तुओं को आकर्षक बनाया है तो निष्प्रयोजन कैसे हो सकता है सब प्रयोजन है और वो हमारे हित के लिए है प्राणियों के मनुष्य के हित के लिए है वो उसमें हम अहित कैसे देख सकते हैं लेकिन अध्यात्म का आवेग होता है जैसे भौतिक जगत में आवेग जब उठता है तो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से युक्त होता है और गलत ही गलत सोचता है वो तो हमें दिखाई दे जाता है अध्यात्म वालों को लेकिन अध्यात्म के वेग में हम क्या क्या कर देते हैं विवेक को एक तरफ रख देते हैं और अविवेक में फंस जाते हैं वो पता नहीं लगता परमात्मा विश्व विनोदक है हम सब जीवों के हित के लिए परमात्मा ने ये वस्तुएं आकर्षक बनाई हैं इंद्रियां ऐसी बनाई हैं कि इनके प्रति आकर्षण होगा इनके संपर्क में आने से सुख होगा ये परमात्मा ने बनाया है लेकिन परमात्मा ने यह भी निर्देश किया है कि इनका उपयोग कैसे हो उसने ऐसी बुद्धि दी है कि इनका उपयोग किस प्रकार से हो और यदि इनका उचित उपयोग होता है तो ये हमारी उन्नति में साधक है बाधक नहीं है अध्यात्म में किसी भी सुख को लेने के लिए निषेध की बहुत प्रबल धारणा है प्राय सभी जगह और उसके कारण से भोजन भी करेंगे तो उसमें रस नहीं लेना है रस लिया तो राग होगा राग होगा तो मुक्ति में बाधक होगा परमात्मा ने भोजन में रस उत्पन्न किया है जिह्वा को उस रस को ग्रहण करने योग्य बनाया है एक प्रकृति है एक स्वभाव है परमात्मा की दी हुई व्यवस्था है और उसको हम नकार के उस समय परमात्मा का चिंतन करने लग जाए इस रूप में किस भोजन में रस ना आ जाए परमात्मा का चिंतन बुरा नहीं है अच्छा है वो करना चाहिए लेकिन परमात्मा की उपेक्षा करते हुए उसकी व्यवस्था को गलत मानते हुए परमात्मा का स्मरण करना ये बड़ा द्वैत है आपस में द्वंद्व है और इसमें फंसके व्यक्ति हानि को प्राप्त होता है जो जो परमात्मा की व्यवस्था को नकारेगा उसको हानि होगी परमात्मा ने एक विनोद वहां उत्पन्न किया है कि हम भोजन करें तो रस लें उस रस के लेने से पाचक स्राव ठीक स्रवित होंगे और पाचन ठीक होगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं तो बहुत कुछ संयम देखते हुए भी सादा भोजन करते हुए भी अस्वस्थ रहेंगे ये सब प्रसन्नता विनोद परमात्मा ने पैदा किया है सब प्रयोजन है अगर इतना सुख मानी हो तो व्यक्ति नहीं भागेगा उस तरफ तो जितना सारा प्रकृति का आकर्षण है वो किसी उद्देश्य के लिए है हम उस ओर प्रवृत्त हों लेकिन व्यवस्थित रूप से अविवेक पूर्वक नहीं लोग जब परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा ने क्यों ये सृष्टि बनाई तो शास्त्र के भी वचन आते हैं लोग भी बोल देते हैं तो उसकी क्रीड़ा मात्र है प्रश्न होता है परमात्मा जब किसी राग और द्वेष से युक्त नहीं है उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है तो क्यों सृष्टि बना दी उसने बोले तो क्रीड़ा मात्र है उसकी लीला मात्र है उसका कोई राग और द्वेष इससे नहीं है प्रयोजन नहीं है उत्तर ठीक है एक जगह लेकिन उस उत्तर के साथ में जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि परमात्मा के लिए तो क्रीड़ा हो गई और हमारे लिए समस्या हो गई तो अब उस परमात्मा की क्रीड़ा में भी दोष देखने लगते हैं परमात्मा की क्रीड़ा परमात्मा की लीला मान रहा है बिना स्व प्रयोजन के लेकिन अपने को समस्या में फंसा हुआ देख रहा है यह भी परमात्मा पे दोष देना हो जाता है परमात्मा का अपनी दृष्टि से लीला मात्र है क्रीड़ा मात्र है कि परमात्मा तो खेल रहा है क्रीड़ा कर रहा है तो क्रीड़ा को हम उस तरह लेते हैं जिस तरह हम क्रीड़ा करते हैं हम कोई भी खेल खेलते हैं देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं तनाव से दूर जाते हैं आनंद लेते हैं खेल में और यदि हार रहे हो अपना पक्ष तो दुखी भी हो जाता है और नहीं तो क्रीड़ा मतलब सहजता से कोई गंभीरता से नहीं लेना बस क्रीड़ा है ये तो तो परमात्मा कोई गंभीरता से ये संसार को नहीं बना रहा ये क्रीड़ा मात्र है ये अर्थ लेना ठीक नहीं परमात्मा के लिए क्रीड़ा है अर्थात बड़ा सहज है परमात्मा के लिए इसमें कोई श्रम नहीं है ऐसा बहुत पसीने बहा करके और बड़ी कठिनाई से हम जब चीज बनाते हैं उसको क्रीड़ा नहीं बोलते हैं क्रीड़ा में सहजता होती है प्रसन्नता समाप्त नहीं होती है तो परमात्मा की लीला और परमात्मा की क्रीड़ा तो इस अर्थ में है कि वो बड़ी सहजता से बिना कष्ट के इसको बनाता है लेकिन क्रीड़ा की तरह से उसको यदि निष्प्रयोजन और बिना गंभीरता के हम समझने लगे तो ये उदाहरण वहां नहीं घटेगा तो आक्षेप आता है परमात्मा ने तो क्रीड़ा कर दी हमारा क्या है उसके लिए तो लीला हो गई क्रीड़ा हो गई हमारे लिए क्या तो महर्षि ने संबोधन दिया हे विश्व विनोदक परमात्मा क्रीड़ा कर रहा है सहजता से लेकिन वो किसकी प्रसन्नता के लिए किसके विनोद के लिए हमारे विनोद के लिए आत्माओं के विनोद के लिए परमात्मा की हर चीज में विनोद विद्यमान है हमारे लिए प्रसन्नता विद्यमान है इसलिए मैं दयानंद ने सत्या प्रकाश में कहा कि संसार में यदि सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख अधिक है बहुत अधिक है सुख हम अपने एक जीवन को भी देख लें अविद्याजन्य दुख को हटा करके सहजता से प्रातः काल से लेके अब तक कितने दुख आए हमें और कितने सुख रहे हमारे को कितनी अनुकूलता रही बच्चे पैदा होकर के थोड़े से बड़े होकर के कैसे खेलते कूदते हैं कैसे विनोद करते हैं और बड़े होके भी मनुष्य कितना विनोद करता है विनोद के समय प्रसन्नता के समय जितना हमारा मस्तिष्क काम करता है अच्छी तरह उतना दुख के समय नहीं करता है दुख के समय क्षमता घट जाएगी सामर्थ्य घट जाएगी हम परमात्मा की शैली से विनोद को प्राप्त हो प्रसन्नता को प्राप्त हो और जब हम इसमें परमात्मा का दिया हुआ विनोद देखेंगे प्रसन्नता देखेंगे तभी तो परमात्मा की कृपा मानेंगे यदि हम ये देख रहे हैं कि यहां दुखी दुख है तो उसमें परमात्मा की कृपा में न्यूनता आएगी हम भले ही कहते रहे कि इतनी बुद्धि अच्छी बुद्धि इंद्रियां दे दी साधन दे दिए इसलिए परमात्मा की कृपा है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इतने दुख दे दिए ऐसा संसार पैदा कर दिया जिसमें दुखी दुख है तो परमात्मा के प्रति जो हम कृपा का भाव रखते हैं उसकी कृपा को देखते हैं उसमें कृपा में न्यूनता आएगी ही हम कितना ही बढ़ा चढ़ा के कह लें उस कृपा को भावना के स्तर पर वो कृपा नहीं हम स्वीकार कर सकते जैसी कि परमात्मा को विश्व विनोदक मानते हुए कर सकते हैं विनोद का एक अर्थ होता है प्रेरक विशेष रूप से प्रेरणा करता है परमात्मा की दीवी व्यवस्था के कारण ही तो आदमी भागता रहता है चुप नहीं बैठ सकता भूख लगेगी उठेगा काम करेगा भूख निवारण का प्रयास करना है प्यास का प्रयास करना है प्यास को दूर करेगा परमात्मा की प्रेरणा हर जगह पे है हमें गतिशील बनाए रखने के लिए सक्रिय बनाने के लिए ऊपर उठाने के लिए और इसीलिए जब भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो अंदर प्रसन्नता होती है ये आंतरिक रूप से परमात्मा हमें विनोद प्रदान करता है और अच्छे कार्यों को करते हुए भी जब हम स्थिर हो जाते हैं प्रगति बंद कर देते हैं तो प्रसन्नता भी हमारी कम हो जाती है समाप्त हो जाती है परमात्मा तब अधिक प्रसन्नता देता है लगातार प्रेरणा देता है जब हम बढ़ते जाते हैं एक स्तर पर जाकर के जब हम रुक जाते हैं ऊपर नहीं बढ़ पाते तब जो हमारे अंदर अप्रसन्नता आती है वो भी हमारे को प्रेरणा देने के लिए ऊपर बढ़ो और प्रगति करो तो सुख आएगा तो प्रसन्नता होगी ये भी परमात्मा की प्रेरणा है हमारे लिए लोक में और साधना में दोनों जगह ऐसा होगा एक सीमा तक धन कमाने लग गए बहुत प्रसन्नता हुई लेकिन अगर वहीं टिके रह गए तो प्रसन्नता कम होती जाएगी हमें और धन कमाना है ये अप्रसन्नता का आना प्रसन्नता का हटना भी परमात्मा की प्रेरणा है कि हम आगे बढ़े इतने से संतोष नहीं होगा अध्यात्म में भी जितनी एकाग्रता शांति हमने प्राप्त की है सात्विकता जितना धर्म का हम पालन करने लगे हैं प्रारंभ में कुछ करेंगे प्रसन्नता आएगी लेकिन वहीं टिके रह गए तो कुछ महीनों और सालों के बाद में प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी बिल्कुल जबकि वहीं टिके हुए हैं ये अप्रसन्नता भी परमात्मा की प्रेरणा है कि यहां टिकना नहीं है और ऊपर बढ़ो नए नियम पालन करता है नए व्रत को लेता है तो फिर प्रसन्नता आ जाती है और अधिक ऊंचाइयों पे जाता है तब प्रसन्नता आती है तो परमात्मा की तो सारी व्यवस्था हमें प्रेरणा देने की है गलत से हटाने की और ठीक तरफ ले जाने की विनोद का एक अर्थ दूर हटाना भी होता है जो गलत है उससे हटाता है और ठीक जगह पर लगाता है जब प्रेरणा दी जाती है कि इस दिशा में बढ़ो तो कहीं से हटाया भी जाता है तो परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है उसने ऐसा बनाया कि गलत से हम हटें और अच्छी तरफ बढ़ते जाएं और इसीलिए परमात्मा ने उन सब चीजों में बड़ी प्रसन्नता पैदा की है वो विनोद देता है हमें जो चीज जितनी अधिक आवश्यक है उसमें उतना अधिक विनोद परमात्मा ने पैदा किया है जो चीजें जितनी अधिक अनिवार्य हैं उसमें विनोद पैदा की है व्यक्ति उधर आकर्षित होगा ही जाएगा ही तो उस विनोद का हम ठीक सदुपयोग करें ठीक तरह से प्राप्त करें और परमात्मा को दुख देने वाला न समझते हुए विनोदक समझें इस समस्त जगत का विनोदक जो इतर प्राणियों को हम बड़ा दुखी देखते हैं उनके भी सामान्य व्यवहार को देखेंगे तो वहां बहुत विनोद है बहुत निश्चिंतता है बहुत संतोष है बाधाएं हैं लेकिन बहुत कुछ अच्छा है खूब बढ़ते हैं पुष्ट होते हैं खेलते हैं कूदते हैं उनके स्तर पर वहां भी विनोद है इसलिए परमात्मा सबका विनोदक है विश्व विनोदक है और अंतिम मुक्ति देकर के तो वो पूर्ण विनोद को हमें देता ही है जो हम चाहते हैं वो हमें देता है और वो सब आत्माओं के लिए है प्रत्येक आत्मा के लिए ये व्यवस्था है केवल महापुरुष जीवन मुक्त जो हो गए जिन्हें हम बहुत ऊंचा देखते हैं उन्हीं पर ये कृपा होती है उन्हीं को वो आनंद देता है और हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे हर आत्मा के लिए परमात्मा ने व्यवस्था की है वो विश्व विनोदक है परमात्मा को विश्व विनोदक समझते हुए और इस विनोद से इतने न भागते हुए विनोद का ठीक उपयोग करते हुए उस प्रसन्नता को रखते हुए हम खूब प्रगति करें जैसा कि परमात्मा चाहता है ठीक ठीक प्रगति करें और परमात्मा को वास्तव में उसको जितनी वो कृपा कर रहा है उसी रूप में देखें जितनी अप्रसन्नता हम अपने में पैदा करते हैं वो अपने लिए मान करके और उस अप्रसन्नता को हटा करके जितना अधिक हम प्रसन्न रह सकें और फिर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें इस भावना के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे ओ